वृत्ति नहीं रहती है हमारे कहने का अभिप्राय यह है निर्विकल्प समाधि में हाँ, सबीज समाधि में निर्बीज समाधि में अयम ईश्वर इत्याकारक वृत्ति नहीं रहती है और अहम आनंद आत्मा इत्याकारक वृत्ति भी नहीं रहती है केवल दृढ़ मात्र वस्तु जो है दृष्टा लेकिन उसको भी वो संस्कार पहले वाला रह जाता है कि जगत सत्य है ईश्वर अन्य है दृष्टा अनेक हैं उस समय तो उनकी ऐसी वृत्ति नहीं होती है परंतु समाधि से उठने के बाद वैसी वृत्ति हो जाती है तो योगियों के दर्शन में ईश्वर जो है वो संप्रज्ञात समाधि की तीन भूमिका तक रह सकता है चौथी में नहीं रह सकता और निर्विकल्प जो असंप्रज्ञात समाधि है का उसमें ईश्वर का चिंतन नहीं होता है इसलिए महाराज इसीलिए भक्त लोग जो है ना वो जोगियों से जो डरते हैं जोगियों से डरते हैं इसका कारण क्या है कि ये महाराज आसन प्राणायाम करवा के प्रत्याहार धारणा करवा के कहीं हमारे ईश्वर को न छोड़ा दे है ना भक्त लोग जोगियों के संसर्ग से हो डरते हैं अब ये जो वेदांती हैं ये कहते हैं कि बाबा ये जो तुम्हारी समाधि लगी ये चित्त की लगी चित्त वृत्तियों की समाधि लगी ना निरोध हुआ और उसके तुम दृष्टा हुए तो एक चित्त के दृष्टा हुए कि सब चित्त के दृष्टा हुए तो योगी तो एक चित्त का दृष्टा हुआ वेदांति कहता है कि यदि तुम एक चित्त के दृष्टा हो तो जैसे पहले चित्त के साथ तुम्हारा संबंध नहीं था और प्रकृति ने नाच के गाय के लुभाए के तुमको चित्त का संगी बना लिया ऐसे तुम थोड़ी देर के लिए चित्त के दृष्टा बन जाओ लेकिन पूरे पूरे व प्रकृति संगम आपादय प्रकृति जो है वो पहले की तरह फिर से तुमको अपनी संगीनी अपना संगी बना लेगी क्योंकि प्रकृति को तो चाहिए कोई साथी ये नाचने वाले हैं ना अगर कोई देखने वाला न हो है ना तो सीखते समय तो भले एकांत में नाचे लेकिन सीख जाने के बाद बिना किसी को दिखाए उनको नाचने का मजा नहीं आएगा ये गवैया लोग जो है ना उनको कोई ना कोई सुनवैया चाहिए गौया लोगों को सुनवैया न मिले तो उनका गाना भी अर्थ <laughs> हाँ। और नाचने वालों को कोई देखने वाला न मिले अरे उनको तो वाह वाह चाहिए हो हाँ। ये कवि लोग हैं जितने कलाकार होते हैं ना ये तो सृष्टि जो है ये प्रकृति की एक कला है हाँ। उसने नाच के गाय कहीं गा रही है देखो है ना कहीं प्रकृति गा रही है कहीं गुदगुदा रही है कहीं हंस रही है हैं कहीं अपना सौंदर्य प्रकट कर रही है देखो क्या शीतल गंगा जी का जल बह रहा है क्या सुंदर फूल खिल रहे हैं हैं क्या इत्र निकल रहा है माटी का भी इत्र निकलता है वो मिट्टी का भी इत्र होता है क्या बढ़िया इत्र निकल रहा है तो ये प्रकृति जो इत्र बन रही है प्रकृति जो स्वाद बन रही है प्रकृति जो सौंदर्य बन रही है प्रकृति जो सौकुमार्य बन रही है हैं और प्रकृति जो सौस्वर्ज बन रही है यदि इसको कोई देखने वाला न हो तो ये बिचारी तो मुरझाए के बेहोश हो जाएगी हाँ। तो महात्मा लोग तो प्रकृति के नृत्य का जो रहस्य है वो समझते हैं, हैं। तुम का माया नाचो कूदो हम हूं बड़े नचनिया यहाँ तुम्हारी दाल न गली है हम है पलटू बनिया है यहाँ तुम्हारी दाल न गली है हाँ, हम है पलटू बनिया तो ये जो प्रकृति का नृत्य है इसको देखने वाला दृष्टा चाहिए तो बोले कि जैसे देखो पहले से तुम दृष्टा हो कि नहीं कहा तो सही तो बोले प्रकृति ने नाच कूद करके तुमको फंसा लिया कि नहीं फंसा लिया का अभी तुम योगाभ्यास करके और विवेक करके दृष्टा हुए हो तो फिर ये नाच कूद के तुमको फंसा लेगी तब दृष्टा ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए तो करना ये चाहिए कि तुमको ब्रह्म से एक हो जाना चाहिए जब तुम अपने को ब्रह्म जान जाओगे दृष्टा जी हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई दृष्टा नहीं है मेरे सिवाय दूसरा कोई पुरुष विशेष नहीं है मेरे सिवाय कोई प्रकृति नहीं है और मेरे सिवाय कोई है ना प्रकृति का कोई ये नाच नहीं है खेल नहीं है ये अपना स्वरूप है वो तो बोले कि फिर ये 25 और 26 का जो झगड़ा है ये बिल्कुल मिट जाएगा है ना तो वेदांतियों ने वेदांतियों ने कहा कि 25 को काट दिया 26 ने और 26 को काट दिया 25 ने इन दोनों को अलग रहने दो अब आगे चलो इसमें शैव आए हाँ। ये कश्मीरी शैव जो हैं ये 31 तत्व मानते हैं पाशुपत जो है पाशुपत हाँ। कश्मीरी शैव दूसरे हैं और पाशुपत दूसरे हैं इसमें आप देखो बड़ा मज़ेदार है क्या कि उपासकों में भी दो तरह के हैं यह ईश्वर है ऐसी उपासना करने वाला और मैं ईश्वर हूं ऐसी उपासना करने वाला ईश्वरवादी तो में मतलब बोले वेदांत की बात नहीं है ये वेदांती लोग मैं ईश्वर नहीं बोलते हैं हाँ उड़िया बाबा जी से एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज जीव ईश्वर दोनों एक ही है ना बोले किसने कह दिया तुमसे अरे कहा सुन के आए हो है ना जीव ईश्वर एक नहीं हुआ करते है? तो जीव जीव है ईश्वर ईश्वर है ये कहीं एक होता है बोले ये तो गजब की बात आप करते हैं महाराज अजब बात करते हैं बोले नहीं नहीं जीव जो है है ना वो तो करता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी है और ईश्वर जो है हाँ, वो तो कारणोपाधिक हाँ, समष्टि उपाधि परिपूर्ण है दोनों में जो एक शुद्ध चैतन्य है ना वो एक है बोला मतलब वो अद्वय है उसमें तो जीव ईश्वर का भेद ही नहीं है नारायण तो ब्रह्म चैतन्य को एक बताना दूसरी चीज है और जीव ईश्वर की एकता बताना दूसरी चीज है तो ये जो शैव लोग हैं पाशुपत लोग हैं ये कहते हैं 26 नहीं इकतीस पदार्थ हैं एक त्रिंसक इत्याहु इकतीस है इकतीस बोले ये कैसे गिन लिया भाई तुमने इकतीस कैसे गिना बोले राग अविद्या नियति कालकला और माया ये पांच और जोड़ दो छब्बीस में तो इकतीस हो गए तो छब्बीस की बात तो आपको सुनाई दी थी है ना प्रकृति के 24 भेद प्रकृति एक और सात उसकी विकृति आठ हो गए दोनों मिलके और सोलह विकार चौबीस हो गए और दृष्टा एक पच्चीस हो गया और एक ईश्वर छब्बीस हो गया और उसमें राग अविद्या नियति कालकला और माया ये पांचों को जोड़ दिया तो इकतीस हो गए तो ये इकतीस तत्व पाशुपत लोग स्वीकार करते हैं देखो इसमें बोले अच्छा भाई राग को तुम तत्व स्वीकार करते हो तो अस्मिता को क्यों नहीं करते तो बोले वो तो अविद्या के अंतर्गत है बोले अविद्या के अंतर्गत जब अस्मिता है तो राग क्या अविद्या के अंतर्गत नहीं है राग भी अविद्या के अंतर्गत है अच्छा राग को तत्व मानते हो तो द्वेष को क्यों नहीं मानते करे वो तो राग का दूसरा पहलू है अच्छा तो विद्या को तत्व मानो क्योंकि वो अविद्या का दूसरा पहलू है या गिनने में गड़बड़ है क्या गिन एक तो काल कला और नियति ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं और तीसरी बात क्या हुई कि वो 26 गिनने में प्रकृति तो पहले आई गई थी अब एक अविद्या और आई और एक माया और आई तो माया अविद्या प्रकृति ये तीन हो गए तो ये भी बात गड़बड़ा गई और काल कला और नियति ये दोनों अलग अलग होते नहीं तो ये गिनने की प्रक्रिया अच्छी नहीं है इसलिए एकत्रिंशक जो लोग कहते हैं कि तत्व इकतीस हैं उनकी गणना ठीक नहीं अनंत इति चापरे कोई कोई कहते हैं कि गिनती करने में क्या लगते हो अरे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये बच गए हो ये, बचने की कोशिश करते हैं आप जानते ही हो कि विचार की प्रणाली जो है जगत को शून्य सिद्ध करने पर्यंत बौद्धों की जितनी युक्ति है वो वेदांतियों को इष्ट है केवल आत्मा को अधिष्ठान को जब मिथ्या करने चलते हैं वो तब वेदांतियों का उनसे विरोध पड़ता है और नारायण जैन और वैष्णव नारायण इनकी प्रक्रिया में है ना उपवास कैसे करना वेश कैसे बनाना व्रत कितने करना अवतार तीर्थंकर कितने मानना है ना शरीर से तपस्या कैसे करना अपने संतों के वचन की प्रामाणिकता कैसे स्वीकार करना ये और देश विशेष में जा करके मुक्त होना जैसे बैकुंठ में गोलोक में जा करके मुक्त होना और सिद्ध शिला के द्वारा अलोक आकाश के सिरे पर जा करके मुक्त होना अलोक है ना तो देश विशेष में जा करके मुक्त होना 24 अवतार मानना व्रत उपवास मानना है ना ये सब जो है पंचाग्नि तप और देह शोषण मानना जैन और वैष्णव नारायण ये बस अंतर उनमें इतना ही है कि वैष्णव वेद को प्रमाण मानते हैं और जैन वेद को प्रमाण नहीं मानते और भी कुछ रहनी में वेद है वो बात जुदा है बोला अच्छा और बौद्ध और वेदांति वेदांति भी वेद को प्रमाण मानते हैं तो वेदांतों की जो प्रक्रिया है वो पूर्व मीमांसा है वेदांत में स्थिति कैसे होगी वेदांत के सिद्धांत में तो बोले कि इसकी प्रक्रिया समझो एक तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की अपेक्षा तत्व के निरूपण में वेद को प्रमाण मानना ये युक्ति से वो समझाते हैं वो प्रमाण से समझाते हैं वो कहते हैं कि अनंत और पूर्ण वस्तु को साक्षात कराने के लिए ये हमारी इंद्रियां जो हैं ये काफी नहीं है किसी एक इंद्रिय के द्वारा भी समग्रता का साक्षात्कार नहीं हो सकता और सब इंद्रियां मिल करके भी समग्रता का साक्षात्कार नहीं कर सकती और पूरी होने पर भी समग्रता का साक्षात्कार नहीं कर सकते इसीलिए इनके मूल में अनुमान जो है वो भी इन्हीं के द्वारा होने वाला अनुमान भी गलत है उपमान भी गलत है अर्थापत्ति अनुपलब्धि भी गलत है हाँ, एकमात्र हाँ, अलौकिक अर्थ के ज्ञान में अपौरुषेय वेद वाणी प्रमाण है ये वेदांतियों का जोर है इस बात पर नहीं तो शून्य ही मिलेगा यंत्रों के द्वारा परीक्षा करोगे तो जड़ मिलेगा है ना और जुक्तियों के द्वारा परीक्षा करोगे तो शून्य मिलेगा बुद्धि के द्वारा परीक्षा करोगे तो और भाव भक्ति से परीक्षा करोगे तो ईश्वर मिलेगा हाँ। और अनुभव की परीक्षा करोगे तो ब्रह्म मिलेगा हो अपना आत्मा ही ब्रह्म मिलेगा तो इस अपने आत्मा को ब्रह्म रूप बताने के लिए श्रुति जो है महापुरुषों अपौरुषेय है ना संस्कार युक्त अंतकरण के द्वारा बोली हुई नहीं है ना पौरुषेय अनुभव के संग्रह का नाम श्रुति नहीं है हाँ। पौरुषेय अनुभव से विलक्षण अनुभव का संग्रह है श्रुतियों में तो एक तो श्रुति की प्रामाणिकता और दूसरे श्रुति प्रतिपादित धर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि और तीसरे का देह से अतिरिक्त आत्मा का बोध है और चौथे श्रुति तात्पर्य निर्णय की पद्धति ये देखो इतनी बात पूर्व मीमांसा से मालूम पड़ती है एक तो वेद ही प्रमाण है दूसरे ब्रह्म के संबंध में और दूसरे उसके तात्पर्य का निर्णय किस रीति से करना चाहिए है ना और धर्म के द्वारा अंतकरण शुद्ध कैसे करना चाहिए देहातिरिक्त आत्मा को कैसे समझना चाहिए ये चार बात पूर्व मीमांसा जो है वो बताती है और वेदांती उनकी चारों बात लेकर के है ना अपनी पांचवी बात बताते हैं कि आत्मा ब्रह्म है वेदांतियों को केवल इतना ही चाहिए तो जो लोग तत्वों का वर्गीकरण करने में समर्थ नहीं है वो कहते हैं ये भी है ये भी हो ये है ये नहीं है ये है ये नहीं है है ना ये भी हो सकता है ये भी नहीं हो सकता है और सारा तो वो विभाग विभाग जब करते हैं कहीं ये जीव है कहीं ये अजीव है है ना ऐसा है ऐसा है बोले कई लोगों ने कहा कि देखो जी हमारे तो लोक ही तत्व है लोकान लोक तत्व है असल में मनुष्य अपनी इंद्रियों में इतना फंस गया है है ना इतनी इतना फंस गया है इतना फंस गया है कि उससे ऊपर उठने का संकल्प तक नहीं हार गया हो ये जीव जो है ना वो अपनी इंद्रियों के चक्कर में पड़ के हार मान गया परमार्थ से विमुख हो गया बोले कि भाई हम तो उसको ईश्वर किसको मानते हो भाई जिसके दाढ़ी मूछ न हो हद हो गई है ना हद हो गई हद हो गई हद हो गई नारायण अगर ईश्वर है तो दाढ़ी मूछ होने पर भी वो ईश्वर ही रहेगा क्या दाढ़ी मूछ में इतनी ताकत है कि वो ईश्वरता को मिटा दे है ना तो लोग कहते हैं कि जिसकी आवाज कान को मीठी लगे जो देखने को आंख आंख को अच्छा लगे जो चाटने में जीभ को मीठा लगे सूंघने में जिससे सुगंध आवे हमारी सब इंद्रियों को जो प्यारा प्यारा लगे है ना नारायण का तो उसका नाम का तो उसका नाम ईश्वर हाँ, इंद्रियों के भोग्य का नाम ईश्वर हाँ, ये हाँ, हार गया माने हार गया माने धर्म के पंथ से च्युत हो गया हार गया माने ईश्वर की खोज उसके असली स्वरूप की जो शोध थी का उस नीचे आ गया एक बार की बात है वो वृंदावन में एक बीए में पढ़ता था लड़का आजकल तो रेलवे का बड़ा अफसर हो गया है बहुत दिल्ली में है बहुत बड़ा अफसर है इसी से हम लोगों को कभी वर्थ वर्थ की जरूरत पड़ती है ना मुंबई में आने के लिए कि भाई आ जाए सीट चाहिए तो बोले अच्छा आज मिनिस्टर के लिए ही ये खाली जा रही है हम दिलाए देते हैं <laughs> बड़ा मजा करता है तो उसने एक आदमी से मंत्र लिया वृंदावन में ही तो जितनी उम्र उसकी थी उतनी उम्र उनकी थी जिनसे मंत्र लिया थोड़े दिनों में दोनों में हुई लड़ाई और वो महाराज जबरदस्त लड़ाई हुई तो पास आया बोला महाराज हमारी तो लड़ाई हो गई गुरुजी से अब क्या करें तो मैंने कहा कि तुमने उड़िया बाबा जी को गुरु क्यों नहीं बनाया थे वहां उड़िया बाबा जी हरी बाबा जी को क्यों नहीं बनाया <laughs> तो बोले कि महाराज वे लोग तो बुढ़े हैं है? बुढ़े हैं उनको हम गुरु बनावेंगे तो वो पहले मर जाएंगे और हम जिंदा रहेंगे तो हमने ये सोच के सोचा कि जवान आदमी को गुरु बनावे तो हम लोग साथ साथ तक जिंदा तो रहेंगे ना मैंने कहा तो लो अब साथ साथ लड़ो भी है ना हाँ, ये एक बड़ी बड़ी अद्भुत लीला हो इंद्रियों का अनुरंजन ही परमार्थ है या मन का अनुरंजन परमार्थ है ये कल्पना करना तो गलत रास्ता गलत रास्ता है एक महाराज बड़े मशहूर आदमी हैं अभी हैं बोला इसलिए नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा आ, हाँ, तो वो अब बड़े ऊंचे सरकारी उहदे पर दिल्ली में रहते हैं सेक्रेटरीट में तो पहले वृंदावन रहते थे उनकी पत्नी भी एम ए और बड़ी बड़ी लेखिका है वो हाँ, तो बड़ी पुस्तकें लिखे हैं हाँ, तो पहले वृंदावन में रहते थे साधु थे तो उन्होंने एक को ईश्वर बनाया एक बालक था छोटा सा उसको ईश्वर बनाया तो क्या करते थे कि सवेरे उठ के उसकी आरती उतारते पहले तो मंगला करते भोग लगाते फिर उसको स्नान करवाते है ना फिर चंदन फूल माला पहनाते अष्टजाम सेवा जैसे करते हैं ना वैसे अपने साथ रख के अष्टजाम सेवा करते हैं और भोजन करना होता तो पहले थाली उसके सामने रखते जब वो खा लेता तब खाते उसको सुला के पंखा झलते अष्टजान सेवा करते अभी वो हैं बोला और कोई मामूली पढ़े लिखे नहीं है बोला कितने एम ओमे न जाने क्या क्या है तो कितनी पुस्तकें लिखी हैं अब वो लड़का धीरे धीरे चौदह बरस से पंद्रह का हुआ सोलह का हुआ सत्रह का हुआ उसको लेके गए झूसी अब झूसी में प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी तो बड़े खिलाड़ी हैं बड़े खिलाड़ी हैं महाराज उनके शरीफा खिलाड़ी साधु कोई दूसरा नहीं है जो नेहरू जी के खिलाफ खड़े हुए थे है ना और जमानत जब्त नहीं हुई थी उनकी बोला पचपन हजार वोट मिला था नेहरू जी के खिलाफ उनको उस जमाने में तो उनको सूझी खिलवाड़ और उस लड़के को हाँ, एकांत में मिलके कुछ ऐसा ऐसा उसके कान उसका कान भरा फिर दोनों में लड़ाई हो गई जब लड़ाई हो गई तो वो जो थे महाराज साधु उन्होंने अकेले में ले जाके लड़के को खूब मारा जिसको भगवान <laughs> मानते थे उसको उसको खूब मारा <laughs> अब मारा तो भगा भग के गया झूसी स्टेशन पर तो फिर ब्रह्मचारी जी गए उसको मना के ले आए अपने पास रख लिया बोले वो नहीं रखेंगे तो क्या हुआ हम रखेंगे बाद में क्या हुआ जब वो बीस बाईस बरस का जब वो लड़का हुआ तो हाथ में वो जो कटार होती है ना कटार रखता था हो और वो घूमता था कि वो हमारे पुजारी कहीं मिल जाए तो हम उनको मार डालेंगे बोला हाँ। वो वो लड़का जिसको भगवान बनाया था उन्होंने वो कटार लेके घूमता था कटार कि हम इनको मार डालेंगे कहीं मिल जाए तो तो ये इंद्रियों के अनुरंजन को विषय को है ना हाँ शब्द को स्पर्श को रूप को रस को गंध को इंद्रियों को जो भोगने में प्रिय लगता है हाँ, अपनी ईश्वरता को अपनी आत्मा में से उतार करके है ना ईश्वरों का ईश्वर हाँ, अपना आत्मदेव है वो ईश्वरों का ईश्वर है ना गुरु को छोड़कर शास्त्र को छोड़कर अपने आत्मदेव को छोड़ करके केवल इंद्रियों के अनुरंजन में अपनी ईश्वरता को उतार देना नारायण ये ईश्वर के मार्ग में चलना नहीं है हार मान गए हम लोकान लोक विद प्राहु तो लोग बोले कि अच्छा जिस रास्ते में ज्यादा वोट मिले हाँ बहुमत हो जिस पक्ष में वही तत्व है बोले लो बना हम बचपन में हम ऐसे बोलते थे हमारे गांव में एक दुखू चमार थे बोला सचमुच नाम यही था वो दुखू दुखी नाम के भी थे दुखू नाम के भी थे दुखारी नाम के भी थे है ना नाम तो ऐसे होते हैं तो पढ़े लिखे नहीं थे काम करते थे तो हम ऐसे कहते थे कि जिस वोट में हमारा और दुखू का दोनों का बराबर अधिकार है वो बाबा खेती बाड़ी के संबंध में तो ठीक हो सकता है कि दुखू अगर कह दे है ना कि इस खेत में गेहूं बो कि चना बोनो बो कि जौ बो तो हम उसकी बात मानेंगे अपनी नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें उसका अनुभव है लेकिन अब ईश्वर के बारे में वोट पड़े और हमारा वोट और उसका वोट बराबर होए तो ये बात कैसे बनेगी है? तो अपना अपना विषय होता है ना अपना अपना विषय होता है तो लोकान लोक विद प्राहु आत्मनिरीक्षण करना चाहिए है ना लोकानुरंजन में तत्वाम का इसने बहुत लोगों को रिझा लिया हाँ, हाँ। नाचे कूदे तोरे तान ताकर दुनिया रखे मान है ना नाचे कूदे तोड़े तान ताकर दुनिया राखे मान ना तो लोकान लोक वेद प्राहो क्या लोकानुरंजन ही तत्व है नारायण अब ईश्वर को निकले थे ईश्वर को ढूंढने के लिए निकले थे आत्मा के अनुसंधान के लिए और कहने लगे कि लोकानुरंजन तत्व है अरे भाई तुम्हें धन चाहिए तो लोकानुरंजन करो तुमको भोग चाहिए तो लोकानुरंजन करो है ना और तुम्हें धर्म चाहिए तो धर्म चाहिए तो लोकानुरंजन नहीं चाहिए लोक सेवा चाहिए बोला बदल जाएगा काम और फिर यदि ईश्वर का दर्शन चाहिए तब तो अपनी भोग वासना से ये जो हम कान से मीठा सुनना चाहते हैं अपने भोग के लिए कि दूसरे के भोग ईश्वर के भोग के लिए ये जो हम आंख से सौंदर्य देखना चाहते हैं संसार का ये अपनी अपने भोग के लिए कि ईश्वर के भोग के लिए ये जो हम नासिका से सुगंध सूंघना चाहते हैं वो अपने भोग के लिए कि दूसरे के भोग के लिए ये हम जीव से जो स्वाद चाहते हैं अपने भोग के लिए कि ईश्वर के लिए तो इंद्रियों का जो अनुरंजन है नारायण ये ईश्वर की प्राप्ति में साधक नहीं बाधक है मनुष्य को इसके संबंध में सावधान होकर के परमेश्वर की ओर चलना चाहिए अब ये प्रसंग आपको खुद कल सुना है कान लोक विद प्राहो आश्रम इति तद्विदः स्त्री पुंनपुंसकम् लिङ्गाः परापरमथा परे सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तो सर्वदा यम भावम् दर्शयेद् यस्य तम् भावम् स तु पश्यति तंचावति स भूत्वासौ तद्ग्रह समुपैदितम् एतैरेषो पृथग्भावै पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सो विशङ्कितः नारायण नारायण नारायण जितनी निष्ठा होती है उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी होती है उसमें साधन क्या होता है स्थिति क्या होती है उसका फल क्या होता है बिल्कुल पक्का होता है तो एक बात आपको सुनाता हूँ जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति है उसका बल है ईश्वर का विश्वास अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे चाहे मोह आवे चाहे मृत्यु आवे चाहे विरोध आवे हर हालत में उसका विश्वास बना रहना चाहिए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा ईश्वर पर विश्वास आत्मबल देता है हो संपूर्ण विपत्तियों का सहन करने के लिए अब कहो कि एक आदमी की अद्वैत निष्ठा है तो उसके जीवन में भी मृत्यु आवेगी रोग आवेगा है ना शोक के अवसर आवेंगे मोह के अवसर आवेंगे है ना कभी पांव फिसल जाएगा कभी ठीक आगे बढ़ेगा तो उसका बल ये है कि हम नित्य शुद्ध शुद्ध मुक्त ब्रह्म हैं इन परिस्थितियों से हमारा न कुछ बनता है न बिगड़ता है ये तो मृग मरीचिका है माया मात्र हैं अपने स्वरूप में कुछ नहीं है यदि इस निष्ठा के बल के सिवाय वो ये कहने लगे कि हे ईश्वर हमको बचाओ है ना तो उसकी निष्ठा कच्ची है वो हाँ। अब कोई मंत्र का जप करता है तो अपने मंत्र पर विश्वास है उसका कि मंत्र हमारी रक्षा करेगा हाँ। अब कोई काम पड़ा कोई रोग आया कोई मृत्यु का अवसर आया कोई विभीषिका आई और वो अपना मंत्र छोड़ करके भगा दूसरे मंत्र के पास गया दूसरे देवता के पास गया तो वो च्युत हो गया तो बल हमेशा अपनी निष्ठा ज्ञानी पुरुष के जीवन में जो कठिनाई आती है उसको वो मंत्र जप करके पार नहीं करता उसको देवता के बल से पार नहीं करता वो ईश्वर की प्रार्थना करके पार नहीं करता वो जानता है कि अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में ये सब स्फुरना मात्र है, है इसकी कोई कीमत ही नहीं है तो तब तक अपनी निष्ठा को पक्की नहीं समझना जब तक अपनी निष्ठा के अतिरिक्त और किसी का सहारा लेना पड़ता हो मौका पड़ने पर नारायण चल गए ये निष्ठा में नहीं चलता इसी प्रकार एक जोगी है वो समाधि लगाने का अभ्यास करता है उसके जीवन में कोई रोग का शोक का मोह का अवसर आया और उसने कहा हे ईश्वर बचाओ या उसने कहा कि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है खा रहा है और उसको तुरंत अंतर्मुख हो जाना चाहिए ऐसी शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए तो तुरंत चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए कुछ नहीं भाष ही नहीं भान ही नहीं हो गए तो अपने घर में बैठने का जो अभ्यास है ना वो साधक की सिद्धि का लक्षण है और जो पराये घर में बैठ के आंधी तूफान से बचते हैं, हैं उनकी निष्ठा पक्की नहीं है तो अपनी निष्ठा भक्ति करनी चाहिए तो ये तो जो जिज्ञासु हैं साधक हैं उनके काम की बात है अब एक बात आपको ईश्वर के बारे में सुनाते हैं क्योंकि कई दिन से सब प्रसंग चल रहा है ईश्वर है ये बात यदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करना चाहे ना तो नहीं हो सकते अच्छा और अनुमान जितना होता है वो प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है तो इसलिए अनुमान से जो सिद्ध होगा ईश्वर वो पीठ के पीछे होगा प्रत्यक्ष से जो सिद्ध होगा वहां के सामने होगा ईश्वर दो तरह का एक बीज के पीछे ईश्वर परोक्ष ईश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं और एक प्रत्यक्ष ईश्वर जो हमारी इंद्रियों से अनुभव में आवे तो इंद्रियों के अनुभव में तो परिपूर्ण ईश्वर कभी आ नहीं सकता जो आवेगा तो अधूरा और जो पीठ पीछे है वो केवल श्रद्धा का केवल विश्वास का तो भाई एक ईश्वर ऐसा है जो हमारे मन को बुद्धि को हाँ, प्रकृति को माया को अविद्या को बनाने वाला कोई अलग कार्य को देख करके कारण का अनुमान कि तो वो कुम्हार की तरह है कि वो माटी की तरह है बहुत सारे दृष्टांत हैं तो ये सब की सब मन की कल्पना है ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अकाट्य प्रमाण जो है वो केवल आत्मा का अस्तित्व है ये जरूर है कि जब तक तुम अपने को शरीरधारी मानोगे तब तक ईश्वर भी शरीरधारी ऐसा मान सकते हो जब तक अपने को कर्ता भोक्ता जीव मानते हो तब तक ईश्वर को भी कर्ता भोक्ता जीव मान सकते हो हैं जब अपने को निराकार आत्मा मानते हो तो ईश्वर को भी निराकार मान सकते हो जब अपने को सगुण मानते हो तो ईश्वर को भी सगुण मान सकते हो लेकिन जब अपने को तुम निर्गुण जान जाओगे निर्गुण माने उसका व्यावहारिक अर्थ बताता हूं गुण माने विषय गुण माने इंद्रिय और गुण माने अंतकरण बोला यही गुण है तो जब अपने को तुम विषय रहित इंद्रिय रहित और अंतकरण रहित शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के रूप में जानोगे तो तुम्हारा ईश्वर भी निर्गुण हो जाएगा विषय रहित इंद्रिय रहित अंतकरण रहित बीज रहित हो बीज रहित कारण कार्य भाव रहे और तब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा तो ईश्वर यदि अपना आत्मा ही है तब तो वो साक्षात अपरोक्ष है और यदि सामने है तो दृश्यत्वा विशेषात जैसे सारे दृश्य हैं वैसे एक वो भी है और यदि पीछे है तो वो अनुमित है वो कल्पित है वो केवल विश्वास का विषय है तो <clears throat> ईश्वर का साक्षात अपरोक्ष स्वरूप केवल आत्मा है सामने वाले में ईश्वरत्व जो है वो श्रद्धा और भाव से अध्यारोपित है सालग्राम की बटिया ईश्वर है नर्मदा की शिले ईश्वर है सामने वाली चीज में जो ईश्वरत्व है पति परमेश्वर है है ना पिता परमेश्वर है माँ परमेश्वर है ये क्या है कि ये सामने वाली छोटी सी वस्तु में बड़ा सा ईश्वर अध्यारोपित है और नारायण पीछे वाली वस्तु में अनुमित है कल्पित है विश्वस्त है नारायण हाँ, ईश्वर का साक्षात्कार कहाँ है कि जब आत्मा का साक्षात्कार है आ, हाँ। अपना आप जो है वो न परोक्ष है न प्रत्यक्ष है हाँ। न रागादि इसके समान साक्षी भाष्य है सुखी पने दुखी पने के समान साक्षी भाष्य नहीं है स्वयं साक्षी है स्वयं अपना आप है इस अर्थ में ईश्वर जो है वो बिल्कुल अकाट्य है जैसे कोई अपनी सत्ता को नहीं काट सकता वैसे ईश्वर सत्ता को नहीं काट सकता अब ये बात हुई कि जो लोग केवल दुनिया को ही देखते हैं लोकान लोक विद प्राहु आश्रमा इति विदहा लोग कहते हैं भाई सबको खुश करो सबको खुश करो सबको खुश करो नाचो गाओ तान तोड़ो है लेकिन नाचने गाने से भी तो लोग खुश नहीं होते हैं इसी से महात्मा लोग कहते हैं कि अपनी निष्ठा नहीं छोड़ना है ना लोगों की खुशी जो है ये तो एकदम अनवस्थित है एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं बरेली में एक संगीत प्रतियोगिता था और एक बहुत बड़े घर का लड़का ये चाहता था कि जो लड़की संगीत प्रतियोगिता में विजयी होगी उसके साथ हम ब्याह करेंगे और इसी ख्याल से उसने इसका आयोजन भी चुपके चुपके करवाया अब ऐसा हुआ कि दो लड़की बिल्कुल समान रूप से प्रतियोगिता में जीतती गई जीतती गई आमने सामने आ गई सब लोग खुश थे कि वाह वाह वाह कैसा सुंदर इनका गला है कितनी सुंदर है इनका जो शिष्टाचार का ज्ञान है ना एटिकेट इतिकृत्य वो इस कृत्य के ज्ञान में कितनी निपुण है नारायण हुआ क्या कि आखिरी प्रतियोगिता में एक लड़की के मन में हीनता का भाव उदय हुआ उसने सोचा कि मैं तो इसमें पास नहीं हो सकती तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और उस लड़के के साथ मेरा ब्याह भी नहीं होगा तो उसने एक ऐसी दवा आती है जो पान में डाल के मैं जानता हूं बोला पर जानबूझ के बताता नहीं हूं अमुक चीज पान में मिला के उसने लड़की को खिला दिया दूसरी को उसी समय उसका गला जो है वो बिल्कुल पड़ गया एकदम हमेशा के लिए पड़ गया अभी तक ठीक नहीं हुआ ये बात हुई दस बरस हो गया पंद्रह बरस लेकिन उसका गला अभी ठीक नहीं हुआ नारायण तो अब देखो मनोरंजन करने के लिए गए थे है ना वहां ईर्ष्या द्वेष का शिकार होना पड़ा जिससे लोग ज्यादा प्रसन्न होते हैं उस उससे दूसरे लोग ईर्ष्या द्वेष भी करने लगते हैं अच्छा एक साधु की बात आपको सुनाता हूं साधु ने हिमालय में रह के एक देवता की आराधना की क्या आराधना की कि देवता प्रसन्न होए तो उससे वरदान मांगे तो देवता प्रसन्न हुआ देवता ने कहा कि बाबा जी बर लो उसने कहा हम ये बर मांगते हैं कि दुनिया में किसी को कोई रोग ना हो तो देवता ने कहा कि बाबा ये तो हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि ये तो गुणों की विषमता से बात पित्त कप के साम्य और वैषम्य से सबका शरीर बना हुआ है रोग तो होगा ही होगा उसको तो कोई रोक नहीं सकता बड़े बड़े ज्ञानियों को रोग होता है देवताओं को रोग होता है अग्नि देवता को अपच हो गया ज्यादा घी पूरा खाएं तो अग्नि देवता को भी अपच हो गया वो हवन हवन हवन से अपच हुआ था हवन लेते लेते हवन लेते लेते अग्नि देवता को अपच हो गया इंद्र का शरीर फूट गया तो ये हमारे पास की नहीं तो नारायण उसने कहा अच्छा तो हमने तपस्या तो इसीलिए की थी कि सबका सब रोग मिट जाए अच्छा हमको कोई ऐसी दवाई बता दो कि सबका रोग मिट जाए बोले ऐसी दवा भी नहीं है दुनिया में कोई तो दवा होती है तो एक एक गुण वाली होती है ये जो सब रोगों पर चलने वाली जो पेटेंट दवाएं होती हैं वो विश्वास के आधार पर ज्यादा चलती हैं वो फायदा कम करती हैं बोला हाँ। ये रामबाण औषधियां जो बाजारों में बिकती हैं वो सब रोगों के लिए नहीं होते हैं वो तो किसी किसी का दिमाग ही फेल होता है जो एक दवा को सब रोगों की मान लेता है तो बोले अच्छा एक रोग के लिए हम एक दवा तुमको बताते हैं देवता ने कहा कि यदि किसी के बच्चे को सुखंडी रोग हो जाए उसका शरीर सूखने लगे बरस भर बीतते बीतते तो सारे देश के बच्चे ले लेके उनके पास लोग पहुंचने लगे अब वो निचोड़े अपने शरीर में से खून ही नहीं रहा लोगों ने कहा बाबा जी हमको तो सिर्फ एक भूत चाहिए हमको तो एक ही भूत चाहिए ना जैसे हमारे पास आने वाले कहते हैं हमको तो पांच ही मिनट के लिए आए है ना हम तो पांच ही मिनट के लिए आए ना और फिर कहते हैं हम तो हफ्ते भर के बाद आए हैं और सिर्फ पांच मिनट के लिए आए हैं तो बाज का जान पर सूती के पीरा तो, बाज स्त्री को प्रसूति को बच्चा देने में कितना ही तकलीफ होती है इसको क्या समझे नारायण अंत में लोगों ने क्या किया कि बाबा जी को उल्टा बांध के पेड़ पर टांग दिया और अपने बच्चे की नाक उसके शरीर के पास ले जाके सुई गड़ावे और खून निचोड़ दें निचोड़ते निचोड़ते निचोड़ते बिल्कुल चूक गया तो देखो ये लोकानुरंजन जो है हम सबको खुश रखेंगे असल में ये ख्याल ही गलत है क्यों भिन्न रुचिर ही लोका लोक की रुचि जो है वो भिन्न भिन्न होती है स्वयं हाँ, ईश्वर भी यदि करना चाहे ना कि हम सबको खुश रखेंगे आप लोगों ने बचपन में शायद एक किताब में पढ़ा होगा एक सज्जन के दो बेटी थी हो तो एक का ब्याह कर दिया माली से और एक का ब्याह कर दिया कुम्हार से अब एक दिन निकले दोनों के घर गए तो माली की बेटी से पूछा क्या हाल चाल है बोले कि वर्षा न होने से पौधा सूख रहा है है ना भगवान अगर कृपा करके वर्षा कर दे हे ईश्वर वर्षा कर दे कि हमारा पौधा सब सिंच जाए खूब फूल फल पैदा हो दूसरी बेटी के घर गया क्या चाहती हो बेटी तो बस आसमान की ओर देख रहे हैं कि कहीं बादल ना आवे आज हमारे सब बर्तन जो हैं सुखाए जा रहे हैं कहीं वर्षा हो जाएगी तो सारा नाश हो जाएगा हमारी सारी मेहनत चली जाएगी तो अब ईश्वर क्या करे कुम्हार की खुशी के लिए वर्षा न करे कि माली की खुशी के लिए वर्षा करे तो ये जो इसी से ये जो लोकानुरंजन है ना इसमें दंड शक्ति शिथिल हो जाती है लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यही है ये लोकतंत्र लोकतंत्र बोलते हैं ना ये वोट वोट सरकार जिसको बोलते हैं है ना तो वोट सरकार में सबसे और सबसे कमजोरी यही होती है कि वो सोचती है कि अगर हम सख्ती करेंगे तो लोग खिलाफ हो जाएंगे हमको वोट नहीं देंगे हमारा तख्ता पलट जाएगा और सख्ती न करे तो चोर भ्रष्टाचारी गुंडे है ना ये बढ़ते हैं हो नश्य त्रयी नीत उहतायाम जहां दंड नीति शिथिल पड़ती है वहां कानून की मर्यादा नष्ट हो जाती है बड़ी सख्ती चाहिए इसके संबंध में बोले मनुष्य को उसकी बुद्धि पर कब छोड़ा जा सकता है कि जब दुनिया में कोई पागल न हो जब दुनिया में कोई मूर्ख न हो जब दुनिया में कोई बच्चा न हो जब दुनिया में कोई स्वार्थी न हो जब दुनिया में कोई कामी क्रोधी लोभी न हो तब दुनिया को उसकी बुद्धि पर छोड़ा जा सकता है नहीं तो न्याय का जो डंडा है वो सबके सिर पर होना चाहिए तो ये लोकानुरंजन में दंड शैथिल्य रूप दोष है हाँ, इससे होता क्या है आप अपने मददगार हैं समझो अकेले तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता तो उसको मददगार चाहिए और मददगार सब दूध के धुले हों ऐसा कैसे हो सकता है है ना वो तो जब तुम्हारी मदद करेंगे बोलते हमने तुम्हारी मदद की तुम हमारी मदद नहीं करते अब उसमें भाई भतीजा आ जाए उसमें मामा मौसा आ जाएगा तो लोकानुरंजन जो है वो अपने मददगारों का पक्षपात और अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं तो उदासीन दृष्टि तो कर ही देगा मुश्किल हो जाएगा तो <clears throat> ये बात बिल्कुल मुश्किल समाज जो कहे सोई तत्व है ना बोले ईश्वर में दो वोट से वोट पड़े हो ईश्वर के बारे में बोले रूस में है ना एक प्रतिशत वोट से ईश्वर हार गया दो प्रतिशत वोट से ईश्वर हार गया